सईद बिन अबी सईद मकबूरी ने उबैद बिन जुरैद से रिवायत की कि उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तला से कहा ए अबू अब्दुलरहमान मैंने आपको चार ऐसे काम करते देखा है जो आपके किसी और साथी को करते नहीं देखा इबन उमर रजी अल्लाह तला ने कहा इबन जुरैज वो कौन से चार काम है इब्न जुरैज ने कहा मैंने आपको देखा है कि आप बैतुल्लाह के दो यमानी रुकनों यानी कोनों के सिवा और किसी रुकन को हाथ नहीं लगाते मैंने आपको देखा है सप्ती यानी रंगे हुए साफ चमड़े के जूते पहनते हैं नीज आपको देखा कि जर्द रंग से कपड़ों को रंगते हैं और आपको देखा है कि जब आप मक्के में होते हैं तो लोग जिलहज की पहली का चांद देखते ही लब्बाई पुकारना शुरू कर देते हैं लेकिन आप आठवीं का दिन आने तक तलबिया नहीं पुकारते अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ने जवाब दिया जहां तक अरकान यानी बैतुल्लाह के कोनों की बात है तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो यमनी रुकनों के सिवा किसी और रुकन को हाथ लगाते नहीं देखा रहे सबकी जूते तो बिला शुबा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे जूते पहने देखा जिन पर बाल ना होते थे आप उन्हें पहनकर वजू फरमाते लिहाजा मुझे पसंद है कि मैं यही सब्ती जूते पहनूं रहा जर्द रंग तो बिलाशुबा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा आप ये रंग इस्तेमाल करते थे इसलिए मैं पसंद करता हूं कि मैं भी उस रंग को इस्तेमाल करूं और रही बात तलबिया यानी लब्बाइक पुकारने की तो मैंने आपको उस वक्त तक लब्बैक कहते नहीं सुना जब तक आपकी सवारी आपको लेकर खड़ी न हो जाती सही मुस्लिम हदीस नंबर अठारह